युवक होने का मतलब उम्र से नहीं है और इसलिए कोई आदमी बूढ़ा होकर भी युवक हो सकता है और कोई युवक होकर भी बूढ़ा हो सकता है पहला कर्तव्य तो यह है युवक का कि वो सिर्फ उम्र से युवक न हो चित्त से युवक हो और भारत के युवक ने वो कर्तव्य अब तक पूरा नहीं किया है युवा मन के कुछ लक्षण जैसे युवा मन पीछे की तरफ नहीं देखता आगे की तरफ देखता जैसे युवा मन स्मृतियों में समय व्यतीत नहीं करता योजनाओं में शक्ति लगाता है जैसे युवा मन स्वर्ग की मोक्ष की परलोक की नहीं पहुंचता इस पृथ्वी को बदलने का विचार करता है इस देश के सारे धर्म जो कि ब्रह्म ने और ब्रह्म ने निर्मित किए हैं इसलिए कोई भी धर्म इस पृथ्वी को बदलने का विचार नहीं करते हमारे देश में एक भी धर्म ऐसा पैदा नहीं हो सका जो इस पृथ्वी को रूपांतरित करने करना करता हो इसलिए से सभी धर्म कहते हैं इस पृथ्वी को छोड़ना है जन्म को छोड़ना है जीवन को छोड़ना है सब छोड़कर आवागमन से मुक्ति पानी दुख है जीवन में तो बूढ़ा चित्त करेगा कि भाग जाओ जीवन से युवा चित्त कहेगा कि दुख को बदले इतना फर्क अच्छा होगा अगर इस मकान में आग लगी है तो बूढ़ा चित्त कहेगा कि इस मकान से दूर निकल जाओ युवक रहेगा इस आंख को बुझाना भाग नहीं जाना इस देश में हम निरंतर ही भागने की एस्केप की पलायन की बात सोचते रहे वो हमारे पुराने किस्से का लक्षण था युवक को उससे बचना पड़ेगा उसे इस शक्ति को बदलने की चिंता करनी पड़ेगी इसका ये अर्थ नहीं है कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है लेकिन जीवन के बाद जो जीवन है उसे भी युवा शिल्पी ही पा सकता है उसे तो भी बूढ़ा शिष्य नहीं पा और इस जीवन के बाद जो जीवन है जिन्होंने इस जीवन को निर्मित नहीं किया वे उस जीवन को भी निर्मित नहीं कर सकेंगे सीधी है ये जीवन के व्यर्थ और अकारण नहीं है परमात्मा की विराट योजना में ये जीवन अकारण नहीं है लेकिन साधु संत और महात्मा यही समझा रहे हैं कि परमात्मा को कोई भूल हो गई अब हमें इस जीवन से बचने की कोशिश करें ये जीवन एक सीढ़ी है उस जीवन के लिए शरीर एक सीढ़ी है आत्मा के लिए संसार एक सीढ़ी है परमात्मा के लिए लेकिन कुछ हमारी परंपरा उस सीढ़ी को मेटा डालने को कि ये सीढ़ी नहीं चाहिए हम बिना सीढ़ी के सीधे ऊपर पहुंच जाना चाहते सीढ़ी टूट जाती है ऊपर तो नहीं पहुंचते सीढ़ी पर भी नहीं पहुंच पाते सीढ़ी से नीचे सड़क से रहता है युवा चित्र को पलायनवादी जो हमारे देश पुरातन धारा है उसे छोड़ देना पड़ेगा और उसके तोड़ने को एक सूत्र में समझ लेना चाहिए हमारी पूरी परंपरा जीवन निषेध लाइफ निगेटिव है तो जीवन का निषेध करती है बूढ़ा चित्र जीवन का निषेध करता बूढ़ा आदमी नहीं कहा बूढ़ा चित्र मिल रहा था उसने छलांग लगाई है लेकिन झुक के दूर बहुत कोशिश की है लेकिन झुकों तक नहीं पहुंच सकी और सभी बात से झाड़ी से खरगोश ने पूछा कि मौसम क्या बात है अंगूरों तक पहुंच नहीं पा रहे थकीलाऊंगी असल पर खड़ी हो गई उसने कहा मैं अंगूरों तक ना पहुंचता पाऊँ लेकिन अंगूर खटके पहुंचने योग्य ये पूरा सकते हैं जो अपने अहंकार को भी बचा लेता है नहीं पहुंच पाने की क्षमता को भी छिपा देता है और फिर जहां नहीं पहुंच पाता वहां हम पहुंचना ही नहीं चाहते हैं इसलिए उस जगह की निंदा में रस हो जाता है इस देश के युवक को इस बूढ़े चित्र से बचना पड़ेगा बड़ा काम है बूढ़े चित्र से बचना और बहुत कठिन काम भी बहुत कठिन काम है युवा होना चौबीस घंटे खतरे में जीना है बुरा होना सुरक्षा में जीना है जो आदमी सुरक्षा के लिए आत्म हो जाता है वो बुरा हो जाता है जो खतरे में जीने की तैयारी रखता है वो युवा रह पाता है जैसे कोई तलवार न्याम में रखती हुई तो जंग खा जाए खा दी जाएगी सुरक्षित न्याम में रखी रखी जंग खा जाए तलवार को जिंदा रहना हो और दार दिखानी हो दौड़ते युद्ध में होना चाहिए चौबीस घंटे खतरे में चित्त भी तभी युवा रहता है जो चौबीस घंटे खतरे में जीता है लेकिन हमारे देश में खतरे में कोई जीना नहीं चाहता युवा आदमी भी इस फिक्र में लगता है कि कैसे बिना खतरे के जिंदगी बीत जाए बिना खतरे के जिंदगी बिताने का मतलब है कि फिर जिंदगी कौन कौन वार हो फिर जिंदगी ऐसी होगी मरी मरी होगी उन्होंने मेरे के एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया और उस महल को एक ही दरवाजा रखा है ताकि कोई चोर कोई हत्यारा कोई डाकू महल में प्रवेश न कर जाए और उसका सम्राट उसके महल को देखने आया है देखकर प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अद्भुत है ऐसी सुरक्षा मुझे भी चाहिए मैं भी ऐसा ही महल बनाऊंगा एक ही द्वार फिर न कोई द्वार है न कोई खिड़की और उस द्वार पर हजारों सैनिकों का पहरा आप बिल्कुल सुरक्षित हैं सिक्योर हैं आपकी जिंदगी में खतरा नहीं बबन पति प्रसन्न हुआ है प्रसन्नता सुनकर मित्र संभाष को द्वार पर छोड़ने आया है फिर दोबारा उस मित्र संभाष ने कहा कि आप बड़े अद्भुत विचार के आपने इतना सुरक्षित भवन बनाया मैं भी बनाऊंगा जब वो ये कह रहा है सभी सड़क के किनारे बैठा है भिखारी हंसने लगा है वे दोनों युवा हैं वो सम्राट जिसने मकान बनाया है वो सम्राट जो विदा हो रहा है वो भिखारी बूढ़ा है वो जोर से हंसने लगा है उस मकान के मालिक ने कहा क्यों हंस रहे हो क्या भवन में कोई भूल रहती उस वृद्ध भिखारी ने कहा मैं यही बैठा हुआ इस मकान को बनता देख रहा हूँ आज आप सामने दिखाई पड़ रहे हैं तो सोचता हूँ कह दो एक भूल रह गई सम्राट ने कहा बोलो कौन सी भूल से हम ठीक कर देंगे उस भिखारी ने कहा वो जो एक दरवाजा है आप भीतर हो जाए और उसको भी बंद कर दें फिर आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे अभी खतरा है इसे एक दरवाजे से भी दुश्मन भीतर जा सकता है और दुश्मन न भी जा सके तो मौत तो इस दरवाजे से भीतर चली ही जाएगी आप बंद कर ले पत्थरों से जुड़वा दे और भीतर हो गए फिर मौत के भीतर न जा सके तो सम्राट ने कहा तुम बड़े पागल हो गए अगर मैं एक दरवाजा और बंद कर दूंगा तो मौत के आने की जरूरत से रह जाएगी मैं मर ही जाऊंगा ये मकान नहीं कब्र हो जाएगा और बुढ़ने का कब्र ये हो गया है थोड़ी सी कमी है एक दरवाजे सम्राट को बात तो ख्याल में आई उसने उस बूढ़े फकीर से कहा कि तुम आखिर हो कौन बूढ़े फकीर ने कहा कभी इसी तरह के कपड़े में रहने के हम भी आदि लेकिन जब ये पता चला कि जितने दरवाजे बंद होते चले जाते हैं जिंदगी में उतनी ही कब्र बन जाती है जिंदगी तो हमने सब दरवाजे तोड़ डाले हमने सब दीवारें ही घटा डाले अब हम खुले आकाश के नीचे जीते खतरे हैं बहुत लेकिन जिंदगी भी है बहुत युवा खतरे में जीने का नाम युवक के सामने एक ही कर्तव्य है सुरक्षा से बचे सुरक्षा उन्हें खाए जाती है सुरक्षा के कारण हम नई की खोज नहीं कर पाते क्योंकि सुरक्षा सदा पुराने के साथ होती है नए में सदा गोलचूक है नए में सदा असफलता है नया पुराने के बराबर प्रमाणित होगा या नहीं होगा ये सदा डर है नए से कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये भय नए का डर नए का भय हमें पुराने के साथ रोक रखता है सुरक्षा पुराने को पकड़ा देती है और नए से इसलिए हम नया आविष्कार न करेंगे नई खोज न करेंगे जिंदगी के लिए नए नियम न निकालेंगे जीवन के संबंधों में नए संबंध स्थापित न करेंगे पुरानी लीप को पकड़ेंगे और चलेंगे पूरा चित्र पुरानी लीप पर चलने वाला चित्र भटकता नहीं कभी भूलता नहीं कभी लेकिन जीता भी नहीं कभी भटक भी चाहिए भूल भी चाहिए अस्पताल भी चाहिए ध्यान रहे जो असफल होने की हिम्मत जुटाते हैं उनके ही सफल होने की संभावना भी है जो असफलता से बच जाते हैं वे सफलता से भी बच जाते हैं ये दोनों चीजें पांच है जो भूल नहीं करते वे कभी ठीक भी नहीं कर पाते और जो भूल करने की हिम्मत जुटाते हैं उनसे कभी ठीक भी हो सकता है तो मैं इतना ही कहूंगा संक्षिप्त में कि युवक युवक होने की फिक्र करे इतना ही काफी है इस फिक्र में सब आ जाएगा एक दूसरे मित्र ने पूछा है उन्होंने पूछा है कि विश्वास नहीं करना चाहिए आपने कहा तो विचार करना चाहिए और आपने गंगा और अमेजान के उदाहरण दिए मित्र ने पूछा है लेकिन गंगा और अमेजान जी तो समुद्र पर विश्वास करके समुद्र तक जाती है अगर उनको विश्वास ही ना हो कि समुद्र है तो वे समुद्र की तरफ जाएंगे कैसे तो हम ये विश्वास करके ही जाते सकेंगे अन्यथा जाएंगे कैसे इस बात को थोड़ा ठीक से समझना उचित होगा अमेरिकान और गंगा समुद्र के विश्वास के कारण समुद्र तक नहीं जाते अमेजान और गंगा अपने अति बल के कारण समुद्र तक जाती नहीं तो छोटे मोटे नाले भी विश्वास करके और सागर तक पहुंच जाए अति है बल प्रवाह है शक्ति है वो शक्ति सागर तक ले जाती है कोई विश्वास नहीं है जान को कि सागर है कहीं पता ही नहीं तो विश्वास कैसे होगा और जान के पास कोई शास्त्र भी नहीं है जो पुरानी नदियों ने लिखे हो और पुराने गुरु छोड़ गए हो जिस वो भरोसा कर गए पुरानी नदियों ने लौट के भी नहीं बताया है नई नदियों को कि सागर है जो गई है वो तो सागर में चली गई उनके पास कोई परंपरा भी नहीं है विश्वास का कोई उपाय नहीं है संवेदन जाती है अपने भीतर की ओवर फ्लोइंग भीतर है ताकत वो ताकत तक ले जाती है आदमी भी विश्वास से नहीं पहुंचता परमात्मा पर पहुंचता है ओवर फ्लोइंग एनर्जी उसके भीतर भी अतिरेक में बैठी हुई शक्ति चाहिए और जब कोई भी व्यक्ति अतिरेक में बैठा है तो सागर तक पहुंच जाता है सागर का कोई कृपा नहीं है उस पर अतिरेक और बहाव सागर में अनिवार्य रूप से ले जाते हैं और जो आदमी विश्वास करता है पहली बात जो आदमी विश्वास करता है उसमें शक्ति का अभाव होता है असल में इनपुट ही विश्वास करती है कारण है क्लीनता विश्वास करती है क्योंकि ध्यान रहे दूसरे में विश्वास अपने में विश्वास की कमी का शोषक असल में दूसरे में विश्वास आत्मविश्वास की कमी का प्रमाण जिस आदमी को अपने में जितना कम विश्वास है उतना वो दूसरे में ज्यादा विश्वास करता है और जिस आदमी को अपने में पूरा विश्वास हो उसे दूसरे में विश्वास की कोई जरूरत नहीं रह जाती अपने में विश्वास और बात है दूसरे में विश्वास और बात और अपने में विश्वास करना नहीं पड़ता कि आप कोशिश करके करें अगर कोशिश करके करेंगे तो वो झूठ होगा क्योंकि जो आदमी अपने में कोशिश करके विश्वास करेगा दो बातें तय हो गई एक की पूर्णता उसको अपने में अविश्वास है तब तो उसे कोशिश करनी पड़ रही है कोशिश करके विश्वास कर लेगा और जिसको अपने में अविश्वास था उसका अपने पर विश्वास की कितना बल विश्वास हो सकता है लेकिन कोई मनमाना होगा सिर्फ ऊपर से चिपका हुआ रिलेटेड होगा जो जरा में खाया जा सकता है स्किन डीप भी नहीं होगा जरा चमड़ी उखाड़ो और सब बह जाएगा हम दूसरे में विश्वास इसीलिए कर रहे हैं कोई बुद्ध में कोई महावीर में कोई राम में कोई मोहम्मद में कोई कृष्ण में इसमें राम बुद्ध कृष्ण का कोई कसूर नहीं है हम कमजोर हमें डर लगता है कि अकेले तो खड़े न हो सकेंगे तो किसी का सहारा लेके खड़े हो डर लगता है कि अपने में तो विश्वास में कर सकेंगे किसी और में कर ले ये और में विश्वास सब्सिट्यूट है ये अपने में विश्वास की कमी को भरने का उपाय है लेकिन भरती नहीं है कमी और शक्ति नहीं है किसी दूसरे का विश्वास आत्मविश्वास को बढ़ा नहीं सकता घटाता चला जाएगा और घटाता चला जाएगा ये जो मैंने जब कहा कि विश्वास मत करें तो ये नहीं कहा है कि अपने में विश्वास मत करें असल में अपने में विश्वास का सवाल नहीं है अपने को पहचाने उस पहचान से शक्ति आएगी उस शक्ति से भरोसा आएगा उस भरोसे से श्रद्धा जन्मेगी वो कभी नहीं पड़ेगी एक बच्चे को अपने पैर में विश्वास नहीं करना होता चलना होता है चलने से विश्वास आ जाता है कि पैर है और चलते हैं एक बच्चे को पहले ये नहीं सीखना पड़ता कि मैं अपने पैर में विश्वास करूं तब चल सकूंगा चलता है तो विश्वास आता है क्योंकि चलना बता देता है कि पैर चलते हैं पहले से विश्वास करके नहीं चलता विश्वास करके चलते नहीं सकता हाँ कोई लंगड़ा हो तो वो पहले विश्वास करेगा चलूंगा चल के बताऊंगा और सब पाया का पहली कदम से भी गिर पड़ा है और विश्वास सब खंडित हो गया तब वो दूसरे से विश्वास करेगा किसी और चला देगा भगवान जी के पास से लगने मिलने भी पहाड़ चढ़ जाके साफ पड़ेगा सोचेगा कि चलो भगवान जी कृपा से चल जाए चलने से भरोसा आता है जब मैंने कहा कि विचार करो तो जितना आप विचार करेंगे उतना आत्मविश्वास आएगा क्योंकि जितना आप विचार करने में समर्थ होंगे उतना जैसा बच्चे को चलने में विश्वास आता है आपको अपनी आत्मा में विश्वास आएगा वो विश्वास वो बैठी हुई शक्ति सागर तक ले जाती है सागर तक पहुंचने का सवाल नहीं है सागर तक पहुंच ही जाएंगे सिर्फ इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बैठ सके और देखिए नदी को अगर सागर तक पहुंचने का मार्ग समझे कुछ पता नहीं कहीं कोई रास्ते पर नील के पत्थर नहीं लगे नदी के लिए जब यहाँ से जाओ बाएं मुड़ो चौरसों पर पुलिस वाले नहीं खड़े कि बताएं कि सागर पूरब की तरफ से कहां पश्चिम की तरफ आती दी जाए नदी बागती बागती अनजान अपरिचित रास्तों को तोड़ती बागती चली जाती है जहाँ रास्ता मिलता है बनता है बागती चली जाती है और पहले से बना हुआ कोई रास्ता नहीं कि तैयार है उस पर से पहुंच जाए रेल की पटरी खोली है नदी रेल की पटरी बंदी है तैयार रेल के डब्बे दौड़ रहे आदमी नदियों जैसा नहीं है रेल के डब्बों जैसा हो गया होना नदियों जैसा चाहिए बंदी हुई पट्टियां हैं हिंदुओं की रेल की पटरी बंदी है मुसलमानों की पटरी बंदी है दौड़ रहे हैं डब्बे फिर कभी पट्टी इधर उधर हो जाती है तो डब्बे टकरा जाते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं फिर डब्बे बैठ के अपनी अपनी पट्टियों पर सवार हो जाते हैं और अपनी ताकत से अपनी पट्टी को पकड़ लेते हैं लेकिन नदियां ऐसे नहीं जा रही बंधी हुई रीत नहीं है सागर का कोई पता नहीं है अपना भरोसा है सिर्फ असल में अगर हम ठीक से सुनते तो नदी अपने भरोसे पढ़ते पढ़ते सागर हो जाती है ये कोई कोई सागर को कोई खोजने नहीं जाती आदमी ही अपने पर भरोसा रखे पढ़ते पढ़ते परमात्मा हो जाता है परमात्मा को खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता आदमी ही अपने भरोसे पढ़ते पढ़ते इतने अचानक पाता है कि मैं आदमी नहीं हूँ साधक हो गए ये भरोसा नहीं है विश्वास नहीं है पहले से किया गया ये बिलीफ नहीं है एक दिन ये ज्ञान बन जाता है विचार से जो चलता है वो ज्ञान तक पहुंच जाता है विश्वास से जो चलता है वो अज्ञान में सदा के लिए ठहर जाता है क्योंकि विश्वास चलाता ही नहीं विश्वास चला ही नहीं चलता विश्वास में कोई गति ही नहीं एक मित्र ने पूछा है चमत्कारों के संबंध में आप सब अच्छा चमत्कार शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो साधु संतों का ख्याल आता है अच्छा होता कि पूछा होता कि मदारियों के संबंध में आपका क्या ख्याल दो तरह के मदारी एक जो सीधे सच्चे मदारी है हमें सड़क के चौराहों पर चमत्कार के साथ दूसरे ऐसे मदारी विशेष बेईमान वे साधु संतों का वेद करके वही चमत्कार दिखाते हैं जो चौरसों पर दिखाया जाता है ईमानदार मदारी तो स्वागत योग है क्योंकि उसकी एक कला बेईमान मदारी दुनिया में अपराध क्योंकि मदारीपन के आधार पर वो कुछ और मान करता है अभी मैं पिछले वर्ष एक गांव में था एक बूढ़ा आदमी आया मित्र उन्हें लेके आए तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ काम दिखाना चाहिए और बूढ़े आदमी ने बड़ा कुछ काम दिखलाया तो रुपये को मेरे सामने फेंका वो दो फीट ऊपर जाके हवा में विलीन हो गया फिर पुकारा वो दो फीट पहले हवा में प्रकट हुआ हाथ में आ गया मैंने उस पूरे आदमी से कहा कि बड़ा चमत्कार करते हैं उसने कहा नहीं कोई चमत्कार नहीं सिर्फ की तकलीफ है मैंने कहा तुम पागल हो सत्य साईं बाबा हो सकते हो क्या कर रहे हो इतनी सच्ची बात बोलते हो इतनी ईमानदारी इसके उपयोग उचित नहीं थी लाखों लोग तुम्हारे दर्शन करते तुम्हें तो मुझे दिखाने ना आना पड़ता मैं तुम्हारे दर्शन करने आता वो तो बुरा आदमी करने लगा कुछ भी नहीं सिर्फ हाथ की उसने सामने कुछ कोई मुझे मिठाई कर गया था एक लड्डू उठा के मुंह में डाला चबाया खाने के लिए फिर उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया फिर उसने पेट जोर से खींचा पकड़ के चमक लड्डू को वापस निकाल के सामने रख मैंने कहा आप तो पक्का ही चमत्कार है उसने कहा नहीं अब दोबारा आप करिए तो मैंने दिखा सकूँ क्योंकि लड्डू छिपा के आया और वो लड्डू मैंने ही पहले भेज भिजवाया उससे पहले जो दे गया है अपना ही हाथ मगर ये ईमानदार आदमी एक अच्छा आदमी मदार समझा जाएगा इसे अगर कोई संत समझता तो बुरा ना कम से कम सच्चा तो है लेकिन मदारियों की जमात और वो कर रहे हैं यही काम कोई रात की गुड़िया निकाल रहा है कोई दादी निकाल रहा है कोई फिटमेट घड़ी है हवा से निकाल रहा है और छोटे साधारण जर्मिनेंट जिनको हम असाधारण कहते हैं गवर्नर है वाइस चांसलर है हमारे कोर्ट के जजेस हैं वो भी मदारियों के आगे हाथ इससे सिर्फ एक पता चलता है कि हमारे जजेस हमारे वाइस चांसलर हमारे गवर्नर भी ग्रामीण जगहों ऊपर है उनकी बुद्धि की साधारण ग्रामीण आदमी से ज्यादा नहीं पद इतना है कि ग्रामीण आदमी के पास सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइड ग्रामीण ये चमत्कार इस जगत में चमत्कार जैसी चीज सच में होती नहीं हो नहीं सकती इस जगत में जो भी होता है नियम से होता है ये हो सकता है कि नियम का हमें पता न हो ये हो सकता है कि कार्य कारण का हमें बोध न हो ये हो सकता है कि कोई लिंक कोई कड़ी अज्ञात हो जो हमारी पकड़ में नहीं आती इसलिए बात की कड़ियों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है बापू में उन्नीस सौ सत्रह से पहले जब रूप में क्रांति के पहले बापू में एक मंदिर था उस मंदिर के पास प्रतिवर्ष एक मेला पड़ता था वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला था कोई दो करोड़ लोग बड़े और बहुत चमत्कार की जगह थी वो वो जो मंदिर की जगह थी वो अग्नि का मंदिर था और एक विशेष दिन को एक विशेष घड़ी में उस अग्नि के मंदिर में अपने आप अग्नि उत्पन्न हो गई बेटी पर अग्नि की लक्ष्य प्रकट हो जाती लाखों लोग खड़े होकर देखते थे कोई धोखा न था कोई ईंधन न था कोई आग जलाता न था कोई बेटी के पास जाता न था बस वेदी पर अपने आप अग्नि प्रकट होती चमत्कार सारी सैकड़ों वर्षों से पूजा होती भगवान प्रकट होते अग्नि के रूप में अपने आप फिर उन्नीस सौ सत्रह में बहुत तो क्रांति हो गई जो लोग आए वो विश्वासी ना थे उन्होंने मरिया उखाड़ के फेंकी और बच्चे को पता चला वहां तेल के गहरे कुएं मिट्टी के तेल मगर फिर भी ये तो बात साफ हो गई कि मिट्टी के तेल के घर्षण से ही आग पैदा हो लेकिन खास दिन नहीं होती तो फिर और खोजबीन करने से पड़ी तो पता चला कि जब पृथ्वी एक विशेष कोण पर होती है अपने झुकाव के सभी नीचे के दिन नजर हो पाता है इसलिए निश्चित दिन पर प्रतिवर्ष वो आप पैदा होता है जब ये बात साफ हो गई तब वहां मेला लगना बंद हो गया अब भी वहां आग पैदा होती है तरफ कोई इकट्ठा नहीं होता क्योंकि सारी कारण पता चल रहा है बात साफ हो गई अग्नि देवता अब भी प्रकट होते हैं लेकिन वो कैरोसिन देवता होते हैं अब वो अग्नि देवता नहीं चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती चमत्कार का मतलब चिंतन नहीं होता है कि कुछ एक अभ्यास है कुछ एक छिपा है कोई कड़ी सांप नहीं है वो हो रहा है एक पत्थर होता है अफ्रीका में जो पानी को भाप को पी जाता है पोरस होता है पोरस जो छेद होते हैं वो भाप को पी देता है तो वर्षा में वो भाप को पी जाता है ताकि भाप पी जाता है उस पत्थर का पोरस होना दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो स्पंजी है उसकी मूर्ति बन जाती है वो मूर्ति जब गर्मी पड़ती है जैसे सूरज में भी पड़ रही है उसमें से पसीना आने लगता है उस तरह के पत्थर और भी दुनिया में पाए जाते हैं पंजाब में एक मूर्ति मूर्ति पत्थर की बनी हुई है जब गर्मी होती है तो भक्त बन पंखा जाते हैं मूर्ति को भगवान को पसीना आ रहा है और बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि बड़ा चमत्कार पत्थर की मूर्ति को पसीना आ रहा है तो जब मैं उस गांव में था सज्जन तो ने मुझे आगे कहा कि आप मजाक उड़ाते आप सामने देखते हैं कि भगवान को पसीना तो आ रहा और आप मजाक उड़ाते हैं आप कहते हैं भगवान को सुबह तो तुम बतौन क्यों रखते हो पागल हो गए और पत्थर को बतौन रखते हो पागल हो गए वो कहते भगवान आप छोड़ेंगे या भोजन करेंगे जब उनको पसीना आ रहा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो सकती वो ठीक कह रहा है उसे कुछ पता नहीं कि वो जब पत्थर से पूरा वो भाग को फ्री जाता है गर्मी पड़ती है उसमें से पसीना लगने लगता है जिस ढंग से आप में पसीना बह रहा है उसी ढंग से उसमें भी बहने लगता है आप में भी पसीना कोई चमत्कार नहीं है आपका पानी शरीर पोरस है वो पानी पी जाता है और जब गर्मी होती है तो शरीर की अपनी एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है तो पानी को छोड़ देता है ताकि पानी भाप बन के उड़े और शरीर को ज्यादा गर्मी ना लगे वो पत्थर के पानी पी गया है लेकिन जब तक हमें पता नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल होता फिर इस संबंध में जिस वजह से उन्होंने पूछा होगा वो मेरे ख्याल में दो बातें और समझ लेनी चाहिए एक तो ये कि चमत्कार संत तो कभी नहीं करेगा नहीं करेगा क्योंकि कोई संत आपके अज्ञान को न बढ़ाना चाहेगा और कोई संत आपके अज्ञान का पोषण न करना चाहेगा संत आपके अज्ञान को तोड़ना चाहता है बढ़ाना नहीं चाहता और चमत्कार दिखाने से होगा क्या और बड़े मजे की बात है जब कोई पूछ करेंगे जो लोग रात की दुनिया निकालते हैं और रात से शादी की रास्ते में इनका नहीं करना चाहिए कि चाहे तो रात की बुढ़िया तो किसका पेट भरेगा ऐसा में भट्टियां आकाश से उतारो काम होगा जमीन उतारो गेहूं उतारो गेहूं के लिए अमरीका के हाथ जोड़ो और असली चमत्कार हमारे यहाँ हो रहे हैं तो गेहूं क्यों नहीं उतार रहे गेहूँ रात की गुड़िया से क्या होगा गेहूं बताओ जब चमत्कारी कर रहे हो तो कुछ ऐसा चमत्कार करो तो मुल्क का कुछ एक हो सके सबसे ज्यादा गरीब मुल्क है दुनिया का और सबसे ज्यादा चमत्कार क्या होगा धन बताओ सोना बताओ मिट्टी को सोना बना दो चमत्कार ही करने तो कुछ ऐसे तो सिर्फ एक घड़ी चमत्कार में निकलेगी क्या फायदा होगा कम से कम मेड इन इंडिया तो निकालो क्या होने वाला है गई से होगा क्या कभी हम सोचे कि हम इस पागतों में किस भ्रांति में भटके पिछले दो ढाई हजार वर्षों से नहीं पागलों के चक्कर में लगे हुए और हम कैसे लोग हैं हम कितने पूछते कि माना कि आपने रात की बुढ़िया निकाल दिया अब क्या मतलब है होना क्या है निकाल दिया बिल्कुल चमत्कार किया आपने रात की बुढ़िया से होना क्या है कुछ और निकालो कुछ काम की बात निकालो वो कुछ नहीं निकलेगा वो कुछ निकल सकती नहीं नहीं तो ये मुद्दीन क्यों हो चरित्र क्यों हो या तो एक चमत्कारी संस्था पैदा हो जाए तो सब ठीक हो जाए एक हजार साल गुलाम रहे ये और यहाँ ऐसे चमत्कारी पड़े जिसका कोई हिसाब नहीं गुलामी की जंजीरें नहीं करती ऐसा लगता है कि अंग्रेज के सामने चमत्कार नहीं करता है चमत्कार के लिए हिंदुस्तान में होना जरूरी है क्योंकि अगर खोपड़ी में थोड़ा भी विचार करता हो तो चमत्कार से कटने का डर रहता है वहाँ बेटा बिल्कुल न चलता हो चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि लोग चमत्कार कर रहे हैं सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम बुद्धि होते हुए चमत्कार देख रहे हैं देखे चले जा रहे हैं और घरों में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है और कोई इन चमत्कार नहीं जाके गर्दन नहीं पकड़ लेता क्या जो खो गई कड़ी है उसको बाहर निकलवा दे क्या मामला है क्या कर रहे हो वो नहीं रहा हाथ हाथ जोड़ के बैठे उसका कारण हमारे भीतर कमजोरियां हैं जब रात की कुड़ी निकलती तो हम सोचते हैं कि भाई चार रोज में कुछ निकला है पीछे लोगों उल्टा कहा रात बनने वाला लेकिन आगे कुछ और संभावना बनती आशा बनती सब कोई बीमार है किसी को नौकरी नहीं मिली है किसी की पत्नी मर गई है किसी अधिक से प्रेम हो गया है किसी का मुकदमा चल रहा है सबकी तकलीफें तो लगता है जो आदमी ऐसा करता है अपनी तकलीफ से कुछ कम कर सकता है गौरव तो बीमारी गरीबी परेशानी उलझने कारण है कि हम चमत्कारियों के पीछे भाग रहे हैं कोई धार्मिक जिज्ञासा कारण धार्मिक जिज्ञासा से इसका कोई संबंध नहीं है धार्मिक जिज्ञासा से इसका कोई वास्ता नहीं धार्मिक जिज्ञासा का तो क्या हल होगा इन सारी बातों से लेकिन लोग करते चले जाएंगे क्योंकि हम गहरे अज्ञान में गहरे विश्वास में हम करते चले जाएंगे और होता चला पुराने ने चमत्कारी आदमी पैदा किया लेकिन जिन जिन कौमों ने चमत्कारी चित्र पैदा किए उन कौमों ने विज्ञान पैदा नहीं किया ज्ञान गए चमत्कारी चित्र वही पैदा हो सकता है जहाँ एंटी साइंटिफिक माइंड हो जहाँ विज्ञान विरोधी चित्र हो जहाँ विज्ञान आएगा वहां चमत्कार मरेगा क्योंकि विज्ञान कहेगा बहुत है विज्ञान किसी चमत्कार को नहीं मानता उसने हजारों चमत्कार किए जिनमें से अगर कोई एक भी कोई संत कर देता तो हम हजारों लाखों साल तक उसकी पूजा करते अब ये चल रहा है ये माइक आवाज बढ़ा रहा है ये चमत्कार नहीं क्योंकि ये विज्ञान नहीं किए और विज्ञान किसी चीज को छुपाता नहीं कार्यकारी कारण प्रकट कर देता है आदमी का हृदय बदला जा रहा है दूसरे का हृदय उसमें काम कर रहा है आदमी के सारे शरीर के पार्ट बदले जा रहे हैं आज नहीं कल हम आदमी की स्मृति ही बदल सकते हैं उसकी भी संभावना बढ़ती जा रही है कोई नहीं कि आइंस्टीन मरे वो तो मरी जाए आइंस्टीन मरे मरे और उसकी स्मृति को बचा के नए बच्चे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इतने बड़े चमत्कार घटित हो रहे हैं लेकिन कोई ना समझ में कहेगा कि ये चमत्कार है कहेगा ऐसा चमत्कार क्या है और कोई आदमी की पूर्णी में सलाम कर रही है चमत्कार है अवैज्ञानिक विज्ञान विरोधी जिस है विज्ञान ने इतने चमत्कार घटित किए हैं लेकिन हमें पता नहीं नहीं चलता क्योंकि विज्ञान चमत्कार का दावा नहीं करता विज्ञान खुला तत्व है ओपन सीक्रेट है और ये जो बेईमानियों की दुनिया है ज्ञान इसलिए अगर किसी आदमी को कोई तकलीफ पता चल जाती है तो उसको खोल के नहीं रखता क्योंकि खोले तो चमत्कार गया इसलिए ऐसे मुल्क का ज्ञान रोज बढ़ जाता है अगर मुझे कोई चीज पता चल जाए और चमत्कार करना हो तो पहली जरूरत तो यह है कि उसके पीछे जो राज है वो मैं प्रकट न करूं आयुर्वेद ने बहुत विकास किया लेकिन आयुर्वेद का जो वैद्य था वो चमत्कार करता था इसलिए आयुर्वेद पिछड़ गया नहीं तो आयुर्वेद की आज की स्थिति एलोपैथी से कहीं बहुत आगे होती क्योंकि एलोपैथी की खोज बहुत नई है आयुर्वेद की खोज बहुत पुरानी लेकिन वैसे को जो पता है वो अपने बेटे को भी न बताया चमत्कार गड़बड़ होता मजा लेगा चमत्कार टीका टापू लगा दो और पापा वगैरह बांध से बैठा रहेगा और मर जाए वो जो जान लिया तो वो छिपा जाएगा क्योंकि वो कड़ी अगर पूरी बता दे तो उससे चमत्कार नहीं होगा लेकिन सब साइंस बन सके हिंदुस्तान में कोई साइंस नहीं बनती जिस आदमी को जो पता है वो उसको छिपा के रखता है वो कभी उसे पता किसी को चलने नहीं देता क्योंकि पता चला कि चमत्कार खत्म हुआ इस वजह से हमारे मुल्क में ज्ञान की बहुत सफेद किरणें प्रकट हुई लेकिन ज्ञान का सूरज कभी न बन पाया क्योंकि एक एक चरण मर गए और उसे कभी हम बहुत ही न बना पाए क्योंकि तो हम आगे दे उसको देने में डर क्योंकि दिया तो कम से कम जिसको देंगे उसे तो कभी मिल जाएगा मेरे एक महिला मेरे पास प्रोफेसर थी वो संस्कृत की प्रोफेसर थी वो एक तरह की जिम्मेदारी के चक्कर में आती है जिनकी फोटो सलाह करती है और शादी नहीं करते है उसने मुझे आके आशीर्वाद मांगा कि मैं अब जा रही हूँ सब छोड़ती मुझे तो भगवान मिल गए खबर यहाँ पड़ी रहो आप मुझे आशीर्वाद दें मैंने कहा ये आशीर्वाद मांगना ऐसे जैसे कोई आए जब मैं जा रहा हूँ कुएं में गिरने और उसको मैं आशीर्वाद दू मैं न तुम कुएं में गिरो मजे से लेकिन इतना ध्यान रखना की मैंने आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि मैं इस पाप में क्यों भागीदार हूँ मरो तुम फसू में कि मैं न करूंगा तुम जाओ मजे से गिरो लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि कुएं में गिर गई हो और अगर बच सकती हो तो मुझे खबर जरूर कर देना सात साल पांच सात साल बीत गए मुझे याद भी नहीं रहा वो महिला का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बाद में बोल रहा था सभा में तो वोट से आई और उसने मुझे आके कहा आपने तो कहा हो गई है मैं आपको कब आके पूरी बात बता जाऊं लेकिन कृपा करके किसी और को मत बताना मैंने कहा क्यों तो वो भी मैं कल बताऊंगी वो कल आई उसने कहा कि अब बड़ी मुश्किल हो गई जिन ताबीजों को तो आकाश से निकलते देख के मैं प्रभावित हुई थी अब मैं उन्हीं संत की प्राइवेट सेक्रेटरी हो गई हूँ अब मैं ही ताबीज बाजार से खरीद के लाती हूँ बैग में रखती हूँ बिस्तर के नीचे से पाती हूँ प्रकट होने का सब राज पता हो गया अब मैं भी प्रकट कर सकती हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गई वो भी चमत्कार से हमारे और वो चमत्कार खत्म हो गया अब मैं क्या करूँ मैंने कहा छोड़ क्या जाऊँ उसने कहा वो भी मुश्किल कॉलेज में नौकरी करती थी सात सौ रुपए मिलते अब मुझे कोई नोट रहा है ज्यादा तो का फायदा महीना में हो रहा है और इतने नोट आते हैं आस पास की जितने उसमें से मार दो वाला तो कोई उसका कोई हिसाब नहीं इसलिए अब मैं आ तो नहीं सकती इसीलिए आपसे तो कहते हैं कि कृपा करके किसी और को मत कहते हैं अब मेरा काम अच्छा चल रहा है अब नौकरी है लेकिन अब कोई चमत्कार और अध्यात्म कोई लेना देना नहीं इसलिए पता न चल पाए और सारा का सारा त्याग है ज्ञान सदा प्रकट होने को उत्सुक होता है बेईमानी सदा अप्रकट रहना चाहती ज्ञान सदा खुलता है बेईमानी सदा चुपती नहीं कोई निरंजन जैसी चीज दुनिया में नहीं होती ना हो सकती है और अगर होती होगी तो पीछे जरूर कारण होगा ये हो सकता है आज कारण न खोजा जा सके कल खोज लिया जाएगा को खोज लिया जाए ये हो सकता है कि जीसस ने किसी के हाथ आंख पर हाथ रखा और आंख ठीक हो गई हो लेकिन किसी चमत्कार से नहीं तो पूरी बात अब पता चल गई अब पता ये चल गई है कि कुछ अंधे तो सिर्फ मानसिक रूप से अंधे होते हैं वो अंधे होते ही नहीं सिर्फ मेंटल ब्लाइंडनेस होते उनको सिर्फ क्षार होता है अंधे होने का और ये ख्याल इतना मजबूत हो जाता है कि हाँ, आप काम करना बंद कर दें अगर कोई भी आदमी उनको भरोसा दिलवा दे कि दुनिया ठीक हो गई तो वो तत्काल उनका मन वापस लौटा है और आपके मन को काम करना शुरू कर आज तो ये बात जाहिर हो गई है कि सौ में से पचास बीमारियां मानती इसलिए पचास बीमारियां तो ठीक की ही जा सकती है बिना दवा और सौ बीमारियों में से भी जो बीमारियां असली हैं उनमें भी पचास प्रतिशत हमारी कल्पना से बढ़ोतरी हो जाए वो पचास प्रतिशत कल्पना भी कर दी जाए सौ सांप में से केवल तीन सांप में जहर होता है तीन प्रतिशत सांपों में संतानवे प्रतिशत सांप बिल्कुल ही बिना जहर के होते हैं लेकिन संतानवे प्रतिशत सांपों के काटने से भी आदमी मर जाते हैं इसलिए नहीं कि जहर था इसलिए कि सांप ने काटा सांप के काटने से कम मरता है सांप ने काटा मुझे इसलिए ज्यादा मरता है तो जिस सांप में बिल्कुल जहर नहीं है उससे आपको कटवा के लिए आपको मारा जा सकता है तब तो चमत्कार तो हो गए क्योंकि तो जहर था नहीं कोई कारण नहीं मर देता लेकिन सांप ने काटा ये भाव इतना जहरा है कि ये मृत्यु बन सकती है सत्र मंत्र से आपको बचाया भी जा सकता है झूठा सांस मार रहा है झूठा मंत्र बचा ले झूठी बीमारी को झूठी शक्ति बचा जा मेरे पड़ोस में आदमी रहते वो सांस गाड़ने का काम करते उन्होंने सांस पाल रखे तो जब भी किसी सांस पर झड़वाने वाला आता तब वो बड़ा शोरगुल मचाते ड्रम पीटते और कुंगी बजाते और बड़ा शोरगुल मचता धुआं गाड़ाते तो उनका ही पला हुआ सांप आंखें एकदम से पटकने लगता जब वो सांप जिसको काटा वो आदमी लगता करे सांप आ गया वो सांप को बुला देता है वो कहते पहले सांप से मैं पूछूंगा कि क्यों काटा उसे डांटूंगा समझाऊंगा बुझाऊंगा उसी के द्वारा जहर वापस करवा फिर वो डांट से टपक से वो सांप क्षमा मांगने लगता वो गिरने लगता लोटने लगता फिर वो सांप को जिस जगह काटा है उस आदमी को उसी जगह सांप से मुंह को रखवा तो आदमी ठीक होता कोई छह या सात साल पहले उनके लड़के को सड़क में काट दिया सब बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि तो वो लड़का सब जानता है वो लड़का कहता है इससे मैं ना बचूंगा क्योंकि मुझे तो सब पता ही है कि सांप अपने घर पे ही वो बाद में मेरे पास आए कुछ करिए मेरा लड़का मर जाए सांप के काट दिया मैंने कहा आपका लड़का सांप के काटने से मेरे को समझदार हो जाए आपको तो कितने लोगों का सांप होता है तो उनका मेरे लड़के का न चलेगा क्योंकि उसको सब पता है कि सांप अपने ही घर का वो कहता है जो तो घर पे इतना था वो बताइए किसने काटा आप चलिए कुछ करिए ये तो मेरा लड़का जाता है सांप के शहर से कम लोग मरते हैं सांप के काटने से ज्यादा लोग मरते हैं वो काटा हुआ दिक्कत ले जाता है वो इतनी दिक्कत दे जाता है जिसका हिसाब नहीं मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक फकीर लगा एक रात उसने देखा कि काली छाया गांव में प्रवेश कर रही उसने पूछा कि तुम कौन हो कल जा रही है मैं मौत हूँ और आपने पूछ दिया तो आपसे कहते हो कि गाँव में मुझे एक हजार आदमी मारने उनको लेने जा रहे सबकी निश्चित बात गाँव में महामारी फैल गई लोग मरने शुरू हो गए मैंने बर्फ दस हजार से ऊपर लोग मर गए फकीर ने कहा कि मौत की झूठ बोलने लगे हद हो गई तो हजार मार नहीं है बर्बाद मौत वापस लौटती थी फकीर ने कहा रुक हद हो गई हम तो सोचते थे जिंदगी बेईमान हो गई मौत भी बेईमान हो गई तूने कहा था एक हजार मार रहे दस हजार आदमी मर चुके हैं और अभी मरते ही जा रहे हैं उस मौत ने कहा मैंने तो एक ही हजार मारे नौ हजार तो घबराहट में मर गए और मैं तो आज जा रही हूं अभी तो लोग मरते रहेंगे पीछे तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं वो खुद मर रहे वो आत्महत्याएं हैं एक आत्महत्या तो वो है जो हमें दिखाई पड़ती है कि एक आदमी कुएं में डूब के मर गया एक आत्महत्या वो है जो आदमी भरोसा करके मर जाता है कि मर गया वो भी आत्महत्या हो मेडिकल सोसाइटी ऐसी आत्महत्याओं पर मन का काम कर सकते हैं शादी काम कर सकते हैं रात काम कर सकती है इससे संतुलन का कोई लेना देना नहीं है अब हमें पता चल गया है कि उसकी मानसिक तरकीबें हैं तो ऐसे हमने आदमी एक अंधी लड़की मुझे भी देखने मिली जो मानसिक रूप से तो डॉक्टर ने कहा कि उसको कोई बीमारी नहीं जितने लोग लकवे से परेशान हैं उनमें से कोई सत्तर प्रतिशत लोग मानसिक रूप से लकवा खा जाते हैं पैरालिसिस पैरों में नहीं होती पैरालिसिस दिमाग में होती है सत्तर प्रतिशत अब उसके बाद आपकी सुना है मैंने कि एक घर में एक आदमी दो वर्ष से लकवे से परेशान उठ नहीं सकता नहीं सकता है सवाल नहीं है उठने का सूख गया एक रात आधी रात घर में आग लग गई सारे लोग घर के बाहर पहुंच गए उनको घर के बाहर जाके पता चला अरे घर के प्रमुख को तो भीतर ही छोड़ा है अब क्या होगा लेकिन देखा कि प्रमुख तो भागो चले आ रहे वो तो बिल्कुल तो समझकर हो गए आपकी तो बात भूल गए देखा कि समझदार हो गया लगवा जिसको दो साल से लगाया वो भागा चला उन्होंने कहा अरे आप वापस चल सकते हैं उसने तो मैं मैं कैसे कर सकता हूँ मैं तो वापस चल जाए अभी लकबे के मरीजों पर सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं लकबे के मरीज को हिप्नोटाइज करके बेहोश करके चलवाया जा सकता और वो चलता है तो उसका आधुनिक तो कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि हिप्नोसिस में वो चलता है बेहोशी में चलता है और वो नाचे लगवा होता है चलता है चाहे बेहोशी में नहीं चलता हो तो एक बात तो सबूत है कि उसके अनुभव में कोई खराबी नहीं क्योंकि बेहोशी में अंत कैसे चल सकते हैं अगर खराब है लेकिन वो नाचो लकवे में पड़ जाता है इसका मतलब साफ है बहुत से बहरे झूठे बहरे इसका ये मतलब नहीं उनको पता है उनको पता नहीं उनके ऐसे ने उनको पैदा कर दिया है बेहोशी में सुनते हैं होश में बहरे हो जाते ये सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं लेकिन इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं चमत्कार नहीं है विज्ञान जो भीतर काम कर रहा है साइकोलॉजी वो अभी पूरी तरह स्पष्ट है वो आज नहीं कल पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और भक्ति की बात हो जाए आप एक साथी के पास गए उसने आपको देख के कह दिया कि आपका फला नाम है आप फला गांव से आ रहे हैं तो आप समर्पित हो गए तो गई कैसे पता चला मेरा नाम मेरा गांव मेरा घर क्योंकि चली सकती अभी अभी अविकसित ज्ञान है अभी दूसरे के मन के विचार को पढ़ना पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता लेकिन बुनियादी सूत्र प्रकट हो चुके हैं दूसरे के मन को पढ़ने की साइंस धीरे धीरे विकसित हो रही और साथ हो जाए उसका साधु से कुछ लेना देना नहीं कोई भी पढ़ सकेगा कल जब साइंस हो जाएंगे कोई भी पढ़ सकेगा अभी भी काफी काम हुआ और दूसरे के विचार को पढ़ने में बड़ी आसानी हो गई छोटी सी तरकीब आपको बताता हूँ आप भी पढ़ सकते एक दो चार दिन प्रयोग करेगा तो आपको पता चलेगा कि तो बड़ा आसान है दो चार दिन में हो सकता है लेकिन जब आप खेल देखेंगे तो आप समझेंगे भारी का नुकसान हो रहा है एक छोटे बच्चे को लेकर बैठ गए रात अंधेरा करने को बैठे उसको दूर कोने में दिखा दें आप यहाँ बैठ गए और उस बच्चे से कह दें कि हमारी तरफ ध्यान रख और सुनने की कोशिश करके हम तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन में एक ही शब्द दे लें और उसको जोर से दोहराए अंदर ही दोहराए गुलाब तो गुलाब को जोर से दोहराए गुलाब गुलाब गुलाब आप तीन दिन के भीतर पाएंगे कि बच्चे ने पकड़ना शुरू कर दिया तो वहां से कहेगा कि आप गुलाब कह रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि बात क्या हो गई है जब आप बहुत जोर से भीतर गुलाब दौड़ाते हैं तो दूसरे तक उसकी विचार करने बहुत शुरू हो जाते हैं बस वो जरा रिसेप्टिव होने की कला सीखने की बात है बच्चे रिसेप्टिव हो फिर इससे तो उल्टा करना शुरू करें बच्चे को कहें कि वो एक शब्द दोहराया आप बिल्कुल उस तरफ ध्यान रख के बैठ के पकड़ने की कोशिश करें बच्चा तीन दिन में कपड़ा है तो आप छह दिन में पकड़ लेंगे तो वो क्या दोहरा रहा है एक शब्द और जब एक शब्द तो पकड़ा जा सकता है तो फिर बात को पकड़ा जा सकता है तो कुछ भी पकड़ा जा सकता है हर आदमी के भीतर विचार की तरंग मौजूद है वो पकड़ी जा सकती है लेकिन इसका विज्ञान अभी बहुत साफ न होने की वजह से कुछ मदारी इसका उपयोग कर रहे हैं जिनको सचिव पता है वो कुछ उपयोग कर लेते हैं फिर वो आपको दिक्कत में डाल देते हैं ये सारी की सारी बातों में कोई चमत्कार नहीं न चमत्कार कभी प्रकृति हुआ है न कभी होगा चमत्कार सिर्फ एक है कि आप ज्ञान बस और कोई चमत्कार नहीं इग्नोरेंस एकमात्र चल है और अज्ञान में सब चमत्कार प्रकटित पहुंचे रहते हैं जगत में विज्ञान है चमत्कार नहीं प्रत्येक चीज का कार्य है कारण है व्यवस्था है जानने में लग सकती है जिस दिन जान ली जाएगी उस दिन हल हो जाएगी उसमें कोई नहीं चर्चा एक आखिरी प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि चेतना बिगड़ रही है उन्होंने पूछा है कि चेतना यानी आत्मा आत्मा बिगड़ कैसे तो सकती आत्मा तो कभी बिगड़ नहीं सकती वो तो सदा स्वरूप इसे थोड़ा समझना हो जब मैं कहता हूं चेतना बिगड़ गई है तब तो मेरा मतलब वही है जैसे सागर शाम मौ कोई तूफान नहीं तब भी सागर और जब तूफान उठता है और लहरें उठती हैं और सागर बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है तब भी सागर लेकिन तूफान की हालत में सागर बिगड़ गया बेचैन हो गया परेशान हो गया दोनों ही सागर में वो जो शांत था वो भी सागर था ये जो अशांत है ये भी सागर है असल में शांत के भीतर अशांत होने की क्षमता सदा प्रसुप्त अशांत के भीतर शांत होने की क्षमता प्रसुप्त है जब मैं कहता हूँ चेतना बिगड़ गई है तो मेरा मतलब इतना ही है कि जो हमारे भीतर छिपा है वो तूफान में आसान है रुग्ण है अस्वस्थ है बेचैनी में है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेचैनी में है तो वापस नहीं लौट सकता वो वापस लौट सकता है वो चैन में हो शांत हो सकता है स्वस्थ हो सकता है लेकिन शास्त्र कहते हैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है उनका मतलब उतना ही है जैसे तूफान जब तूफान में हो सागर और सागर से कोई कहे कि पागल इस तूफान में होने को अपना स्वरूप पर समझ लेना तुम तो शांत तो सागर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सागर में तूफान नहीं है सागर में तूफान है लेकिन सागर से हम कह रहे हैं कि तूफान को तू अपना स्वभाव मत समझ लेना तूफान हो सकता है तूफान ही नहीं है तो तूफान से बाहर भी हो सकता है जिनने भी कहा है कि आत्मा शुद्ध है बुद्ध है विश्व तुम्हें स्मरण जला रहे हैं कि तुम अपनी रुगण अवस्था को ही अपनी चरम स्थिति में समझ लेना ये सिर्फ विकार है तुम्हारा तुम निर्विकार में लौट सकते हो लेकिन रुग्ण बहुत चालक लोग हमें इतने विकार से भरे हुए कि हम कहते हैं इसका शुद्ध बुद्ध है सब तो कुछ करना ही नहीं आत्मा शुद्ध बुद्ध है तो करना चाहिए आत्मा तो सदा खुद है तो करना क्या कुछ भी नहीं करना हिंदुस्तान को बिगाड़ने वाली शिक्षाओं में ये सबसे बड़ी शिक्षा सिद्ध हुई हिंदुस्तान के चरित्र को नीचे गिराने हिंदुस्तान के व्यक्तित्व को नष्ट करने ये बहुत ऊंची बात जो बिल्कुल सही है सहायक हुई इस बात में कि हम शुद्ध बुद्ध थे तो फिर क्या सवाल है एक चोर में कहो तो वो कहेगा आत्मा चोरी करते ही नहीं चोरी वगैरह सब माया है हत्यारे से कहो वो कहेगा ना कोई मरता न कोई मारता गीता में लिखा है नाम से लेखन माने शरीर न कोई मरता ना कोई मारता नाम से मारा ना कोई मरा आत्मा को तो मरती ही नहीं आत्मा हमारा क्या करिएगा समझाइएगा इसको ये ब्रह्मवादी को आप समझा नहीं सकते क्योंकि बात तो ठीक ही कह रहा है लेकिन ठीक बात को गलत परिणामों के लिए उपयोग कर रहा है हिंदुस्तान के ब्रह्मवाद ने हिंदुस्तान के व्यक्तित्व को दुबड़ किया विमान किया क्योंकि बात तो सच थी लेकिन सच बात होने से ही उसको हम सच के लिए उपयोग करेंगे ये जरूरी नहीं है हमने कहा सब सब कुछ भी नहीं करना ये सब माया ये सब बुराई है विकार है ये सब असत्य ये सपने की भांति सत्य में तो कभी कोई विकार होते नहीं सब सत्य इसलिए साधु संत जहाँ ये समझाया जाता है आत्मा शुद्ध बुद्ध है ब्रह्म निर्विकार है वहाँ सब तरह के पापियों को आप बैठा हुआ पाएंगे वो बिल्कुल से दिला रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज आत्मा तो निर्विकार वो अपने को समझा रहे हैं कि आत्मा तो निर्विकार है इसलिए अब विकार करने में कोई डर नहीं है कोई भय नहीं है क्योंकि ये विकार वगैरह सब सपना है ये मेटाफिजिकल जमीन है ये आध्यात्मिक धन की बेमानी है जिसको हम कर सकते जिसको हमने किया इसलिए हिंदुस्तान एक तरफ ऊंची से ऊंची बात करेगा और दूसरी तरफ नीचे से नीचे आदमी पैदा करेगा पश्चिम के लोग हमारा भरोसा नहीं करते ओरिएंटल कहीं ले सके पश्चिम के लोग जानते हैं कि सूरत के लोग बदमान और उसका कारण है उनके जानने का कि हमारे संबंध में जब भी आते हैं तो हम हर तरह की शराब करते हैं हाँ एक ही बात में तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते ब्रह्मवाद की जब चर्चा करें तो वो एकदम हार जाता क्योंकि वो हमने शक्ति विकसित कर दी उसे सब असत सब सपना ध्यान करें जब जगत सपना है तो चोरी भी सपना है और साधु भी सपना है तो सब क्या है दो सपने तो कोई सब होगा कोई सब नहीं होगा जब सभी माया है तो बुरा आदमी भी माया है अच्छा आदमी भी माया है दो माया में कोई फर्क होगा कोई सब नहीं और हाथ में कहा है सदा अपनी स्थिति में वो न कहीं आई न कहीं गई न उसने कुछ बुरा किया न कुछ भला किया चलते में वो अचल है बोलते में खबोल है बात करने में पुण्य में है कोई नहीं नहीं मैं इस तरह की बातों में सहयोगी नहीं हो सकता हूँ ये हमें तोड़ना पड़े अगर इस देश के चरित्र को बदलना है और परिवर्तन के चौराहे पर चरित्र सबसे बड़े से बड़ा सवाल है हमारा अगर इस चरित्र को बदलना है तो हमें समझना पड़ेगा कि गलत चरित्र पैदा करने में हमने कौन सी तस्वीरों का उपयोग किया है सबसे बड़ी तस्वीर यह है हमारी कि हमने चरित्र को कहा कि ये माया का हिस्सा है जब माया का हिस्सा है तो बात खत्म इस माया के हिस्से के कारण बात खत्म हो गई हमने ऐसे साधु पैदा किए जो शराब पी रहे बांग पी रहे भोग कर रहे और उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा आत्मा तो कभी भोग करती है आत्मा तो कभी बांग खाती है बांग डालो तो शरीर में नहीं जाती है आत्मा को तो जाती नहीं जा सकती आप कितनी बांग डालो वो शरीर में चली जाती और शरीर तो सब आधार सार तो आत्मा है उसमें कुछ हो जाए वो निर्विकार हमारे चरित्र की बुनियादी कमी हमारे ब्रह्मवाद की छाया से पैदा हो नहीं जरूरी न था कि ब्रह्मवाद से ये पैदा होती लेकिन हमने पैदा कर ली और हमें ये समझ लेना चाहिए नहीं हम जैसे हैं हम जो हैं उस होने में हम पूरी तरह विकार से ग्रस्त थे हम जो है वहाँ पूरी तरह पाप है हम जो है वहाँ पूरी तरह बीमारी है लेकिन आत्मा शुद्ध बुद्ध है इसका मतलब इसका मतलब है आत्मा का शुद्ध बुद्ध होना उसकी परम संभावना है अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है हम चाहे तो सबसे बाहर होकर वो शुद्ध बुद्ध हो सकते है हम जैसे हैं ये हमारा होना परम स्वभाव नहीं है ये होना हमारा विकार ये हमारा स्वभाव से चित होना है लेकिन हम लौट सकते हैं उस लौटने की याद जब हम दिलाते हैं तो हम सोने से कहते हैं कि तू कचरा नहीं है तो कचरा हो ही नहीं सकता लेकिन सोने में कचरा हो सकता है सोना कचरा नहीं हो सकता लेकिन सोने में कचरा हो सकता है सोने में धूल हो सकती है मिट्टी हो सकती पत्थर कंकर हो सकते हैं सोने से हम कहते हैं कि सोना तो कभी मिट्टी नहीं हो सकता लेकिन सोने में मिट्टी हो सकती और सब अगर सोना समझ ले कि मैं मिट्टी हो ही नहीं सकता तो आज में जाने की क्या जरूरत मैं तो शुद्ध मुद्द सोना तो वो सोना मिट्टी में मिला जुला ही रहता है कहीं तो सोने को आग में जाना पड़े मिट्टी जल जाए कचरा जल जाए सोना बच जाए वो जब हम सोने से कहते हैं तो मिट्टी नहीं हो सकता वो हम उसे उसकी परम स्थिति के स्मरण के लिए जा रहे हैं वो उसकी आज की स्थिति का स्थापन नहीं है उसकी परम स्थिति की स्मृति है लेकिन इस स्मृति का हमें जो क्यों ऐसा ही है जैसे अस्पताल में हम जाए और लोगों से हम कहें कि आत्मा तो स्वस्थ है अस्पताल में क्या कर रहे हो लेकिन जो स्वामी कहता है कि आत्मा तो स्वस्थ है वो भी अस्पताल में इलाज करवा रहा है आत्मा स्वस्थ है तो तुम ये क्या करवा रहे हो तो शरीर बीमार है तो जाओ इसका मतलब ही ये होता है कि रुग्ण हो सकती है स्वास्थ्य में रुग्णता की संभावना भी है जो रुग्ण नहीं हो सकता वो स्वस्थ भी नहीं हो सकता संभावना में सदा विपरीत और प्रत्येक चीज में पुनरिति प्रत्येक चीज में विपरीत मौजूद सिर्फ मरा हुआ आदमी नहीं मर सकता जिंदा आदमी मर सकता है जन्म के साथ मौत की पुनरिति मौत का ध्रुव स्वस्थ आदमी बीमार हो सकता है विपरीत सदा मौजूद है उस विपरीत को झूठा कह के हलना होगा अगर हमने उसे झूठा कहा तो फिर बदलने के लिए हम कुछ भी न करें इस परिवर्तन के चौराहे पर जगत समाज खड़ा है वहां हमें ये भी निर्णय लेना होगा कि हमारे अतीत की विचार दर्शना ने हमें ये चरित्र दिया है अच्छा, यही चरित्र हमने आगे भी बताया था क्या कि हमें इस चरित्र को रूपांतरित करना है ये चरित्र रूपांतरित करना है तो हमें चरित्र के पीछे के आधार भूमियों में इस परिवर्तन करने होंगे तो सभी भी बदलनी होगी दर्शन भी बदलना होगा सभी चरित्र बदलेगा क्योंकि दर्शन ही हमारे चरित्र का फैलाव हो जाता है और थोड़े से प्रश्न रह गए बहुत से आपके मन में रह गए होंगे लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर महसूस ये जरूरी भी नहीं हो सकती मैंने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए वो इसी आशा से दिए हैं कि वे उत्तर मेरे आपके नहीं और भूल के आप उनको अपने मत समझ लें अन्यथा आप विश्वास में बढ़ रहे ये उत्तर मेरे हैं और मेरे भी कल होंगे इसका भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं अपने हाथ से अपने कल को नहीं बांध सकता सिर्फ मरा हुआ आदमी बांध सकता है सिर्फ मरा हुआ आदमी कंसिस्टेंट हो सकता है जिंदा आदमी को इनकंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा अगर वो जिंदा है आज जो मैंने कहा वो मैं कल कैसे कहूंगा क्योंकि तो चौबीस घंटे में गंगा का बहुत पानी रह जाए तो उत्तर आज तक जो मैं हूँ उसके है कल जो मैं हूँगा उसके भी नहीं और आज के तो मुझे का सवाल ही नहीं आप आप हैं मैं नहीं लेकिन फिर मैंने उत्तर क्यों दिए उत्तर मैंने इसलिए नहीं दिए कि आपके प्रश्न मर जाए उत्तर इसलिए दिए हैं कि आपके प्रश्न और जिंदा हो जाए उसको और आ जाए आप सोचने पर निकल पड़े आपकी सोचने की यात्रा शुरू हो जाए मुक्त राज्य और नाराजी होना सवाल नहीं और मेरे सुनने वालों निरंतर ये भूल होती कोई मुझसे राज्य हो जाता वो तो हमने आपको मान लिया कोई मुझसे नाराज हो जाता वो तो हम आपको मान ली ये दोनों ना समझ मुझे मानने न मानने का सवाल ही नहीं मैं अनुयायी खोजने निकला ही नहीं हूं इसलिए अकारण कोई मेरा अनुयायी बन जाता है कोई मेरा शत्रु बन जाता है अकारण मेरा कोई संबंध ही नहीं मैं आपसे कहता हूं सिर्फ इसलिए कि आप सोचने में विचार करें और अगर इन तीन दिनों में आपके मन में कुछ भी विचार पैदा हुआ हो स्वीकृति नहीं विचार अस्वीकृति नहीं विचार तो ये क्रम सार्थक हुआ है मेरी बातों को इसलिए प्रेम और शांति से सुनाओ सर्वरी हूँ और अपने सत्य की सदा के प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे चुनाव